उलामाए अहल सुन्नत की जीती जागती तकरीरों का मरकज अल फारूक केसट हाउस ख्याली अड्डा गुजरावाला अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदा وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व तम्मा बुरहानहू व आजमा शानहू की हमदो सना और हजूर पुरनूर शाफ यमुन नशूर दस्तगीर जहां गम गुसारे जमा सैद सरबरा हामी बेकसा सयाह लामका साहिब रमदानो कुरआन अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालही वसहाबी वसलम के दरबार गहरबार में हदिया सलाम अर्ज करने के बाद मोहतरम सामीन माह रमदान मुबारक की रहमतें अपने अरूज पर हैं खालके कायनात जल्ला जलालहू की बख्शिश और मगफरत आम है ऐसे पाकिजा मुअत्तर और मुनवर लम्हात में जुमातुल मुबारक की फजीलतों के हमरा आज हम अल्लाह के घर में हाजिर हैं दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए गुजश्ता जुमा आपने एक माशरती बुराई के खात्मे के सिलसिले में और अमली खराबी और अमली बिगाड़ के ख़त्म करने के सिलसिले में आपने एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगु समात की आज का मौजू अपने लिहाज से नहायत ही मुनफरद और नहायत ही ज़रूरी मौजू है ये अगरचे एक ऐसा सबक है जो कि पढ़ाया जाए तो दीनी मदारस के सीनियर तोलबा को पढ़ाया जाए फजाला और उलामा का एक सबक है बंदा नाचीज के तवील मुताला का हासिल है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और मुझे इस बात पर खुशी है कि मेरे सामीन बड़े दलेर हैं वो अहम से अहम फिक्री मसाइल को सुनने में दिलचस्पी भी रखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि पूरा दीन मतीन हमारा निसाब है कुरान मजीद की सिर्फ चंद आयात ही नहीं पूरा कुरान मजीद सुन्नत नबी अकरम वसल्लम के फरामीन का जखीरा तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बारी बारी सारे इन ओलूम के जहान की सैर करें और अपने आप को आदि बनाएं कि दीन की बात अगरचे मुश्किल भी हो उसको समझने की कोशिश की जाए और समझ के फिर आगे उसका चर्चा आम किया जाए मोहतरम सामीन कुरान फहमी के बड़े दावे किए जाते हैं और कुरान मजीद की तालीमत को आम करने के लिए बड़े प्रोग्राम चलते हैं कुरान मजीद को समझना और उससे हिदायत हासिल करना ये एक बड़ा मनसब है और इसके लिए बड़ी शराइत है कुरान मजीद बुरहान रशीद के उसलूब को समझना अंदाज को समझना मजाज को समझना और इसकी रोशनी में फिर कुरान मजीद के मफहूम को समझना ये बड़ा मुश्किल काम है कुरान मजीद के अल्फाज का महज तर्जमा आ जाना इसको कुरान फाहमी नहीं कहा जाता कुरान फाहमी बड़ी दूर की बात है मौजूदा दौर के अंदर मेरी नाकिस सोच के मुताबिक जितनी भी फिक्री उलझने बन गई हैं और मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह और तबके बन गए हैं और मुख्तलिफ किस्म के टोले और मुख्तलिफ किस्म के फिरके बन गए हैं इनकी बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान मजीद के उसलूब को ना समझा गया कुरान मजीद के मफहूम को ना समझा गया बल्कि उल्टा कुरान मजीद के मफहूम को बदलने की कोशिश की गई एक है तर्जमा बदलना एक है मफहूम को बदलना तर्जमे की बदली हुई गलती जो है अल्फाज तो कुरान मजीद के कोई नहीं बदल सकता मगर तर्जमे में लोगों ने गलतियां की तर्जमे की गलती की चोरी को पकड़ना आसान है मगर एक इससे आगे खतरनाक वारदात है वो है मफहूम को बदलने की जो तर्जमा है वो सही किया जाए मगर उसका मफहूम गलत सामे को समझाया जाए मफहूम कुरान मजीद की आयात का बदल बदल के लोगों ने और उसको बिगाड़ बिगाड़ के अपनी हवस और अपनी बातनी ख्वाहिश को लोगों के पर मुसलत करने के लिए कुरान मजीद के मफहूम को बदला गया मफहूम को बदलने का मकसद यह है कि रूए सुखन को तब्दील कर देना कुरान मजीद का रूए सुखन कुछ लोगों की तरफ हो उसको बदल के औरों की तरफ कर देना तर्जमा वही है लफ्ज वही है मगर रूए सुखन को बदल दिया जाए तो इससे सारे का सारा मकसद फौत हो जाता है आज फिक्री बिगाड़ में और साजिशों के इस दौर में मफहूम बदलने कुरान मजीद की अल्फाज का वही तर्जुमा करके जो ही तर्जमा है लेकिन उसका रुख बदल देने से बहुत सी गलत पैदा हुई और बहुत सा इंतशार पैदा हुआ मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की में जो बुतों के बारे में आयात थी और जो कुफ्फार के बारे में आयात थी उनका रुए सुखन तो कुफ्फार की तरफ था उनका रुख तो बुतों की तरफ था तो कुछ लोगों ने तर्जमा वही करके जो लफ्जों का है रुख को बदल दिया और उन आयात का रुख कुफार की बजाय वलियों की तरफ कर दिया कुफार की बजाय और बुतों की बजाय मोमिन और अलिया की तरफ कर दिया गया तो जिसकी वजह से एक इतना एक फसाद पैदा हुआ कि एक आम इंसान वो बेचारा परेशान होकर रह गया कि अब कुरान मजीद की आयत है और लफ्ज ये है और तर्जमा भी ये है मगर ये जो कुछ मुझे समझाया जा रहा है मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों के नाम को अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम का निशान बनाया है उन्हीं लोगों के बारे में यह आयात के अंदर मजम्मत भी की जा रही है तो ये किस तरह पैदा हुआ मफहूम कुरान मजीद पर वारदात करने की वजह से और मफहूम कुरान मजीद को बदलने की वजह से मैं इस सिलसिले में कुरान मजीद से आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूं कि किस तरह मफहूम कुरान मजीद बदल सकता है तर्जमा सही करते हुए भी तर्जमे की गलती तो बड़ी दूर की बात है और वो बदी है आम इंसान पकड़ सकता है जिसको तर्जमा आता है या ग्रामर से वाकिफ है लेकिन मफहूम की गलती को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक जुमला आता है इन कुन तुम सादिकीन जिसका माना क्या है अगर तुम सच्चे हो ये के कायनात ने इर्शाद फरमाया है बहुत से जवाब के बारे में मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक वाली ने कुफ़ारे मक्का से कहा व इन कुन तुम फी रई आला नजल्ला अला अब्दीना फतू बिसूरतिम मिम मिसली वदऊ शुहदा अकुम बिंदून तुम सादिकीन अगर तुम्हें शक है उसमें जो हमने अपने बंदा खास पे नाजिल किया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुछ हमने नाजिल किया है अगर तुमको इस बारे में शक है तो इस कुरान मजीद की मिसल एक सूरत ही ले आओ तुम खुद नहीं अपने इन बुतों को भी साथ मिला लो और बना के इसकी एक सूरत की मिसल ले आओ इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो तो कुरान मजीद ने सारी बात का जो कुफार के साथ झगड़ा था मुशरकिन के साथ झगड़ा था उसका हल एक ही बात में पेश कर दिया कि हम तुम्हें सच्चा मान लेंगे अगर तुम कुरान मजीद की मिसल एक सूरत बना के ले आते हो मगर तुम झूठे हो कज्जाब हो काफिर हो तुम सच्चे नहीं हो तुम कुरान मजीद की मिसल सूरत बना के नहीं ला सकते इन कुन तुम सादकिन ये जो अल्लाह के बागियों के बारे में बोला गया अल्लाह के दुश्मनों के बारे में बोला गया अल्लाह के मुनकरीन के बारे में बोला गया यही जुमला अल्लाह ने अपने मुकर्रम बंदों के बारे में भी बोला कुरान मजीद के पहले पारे में ही पहले वो आयत है जो मैंने पढ़ी फिर अल्लाह ने जब फरिश्तों का इम्तिहान लिया था तो खालके कायनात ने फरमाया अम अम्बियूनी इन कुन तुम सादिकीन मुझे इन चीजों के नाम बताओ इन चीजों के मुझे नाम बताओ इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो इन कुन तुम सादिकीन यही मुशरकिन को कहा गया बुत परस्तों को कहा गया कुफार को कहा गया और यही किने फरिश्तों को कहा गया फरिश्ते कौन है अल्लाह फरमाता बल इबादुम मुक्रमून मेरे इज्जत वाले बंदे हैं आम नहीं अल्लाह के मुती बंदे हैं जिनका हर लम्हा अल्लाह की इतात में गुजरता है जिनकी खुराक अल्लाह की तस्बीह करना है जो अल्लाह की बंदगी में महारत रखते हैं और रूट पर पहुंचे हुए हैं खाल के कायनात में उनको अपना कुर्बता फरमाया है वो अल्लाह की अर्श को उठाए हुए हैं अल्लाह की बंदगी करने वाले जमीन के चप्पे चप्पे पर और आसमानों पर मौजूद हैं मगर खाल के कायनात फरमा रहा है इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो अब यही मुशरकिन को कहा गया और यही फरिश्तों को कहा गया जो दूसरा तबका है उसका अंदाज इस्तलाल यही है अब इससे कोई शख्स फरिश्तों की दुश्मनी की तहरीक चला ले कि फरिश्ते कोई मोहतरम चीज नहीं है बल्कि अल्लाह ने जो कुछ मुशरकों को कहा है वही फरिश्तों को भी कहा है फरिश्तों को भी इनकुल तुम सादिकीन कहा कि अगर तुम सच्चे हो यानी तुम सच्चे नहीं हो और उधर मुशरकिन को भी कहा अगर तुम सच्ची हो तो ये काम करो यानी तुम सच्चे नहीं हो तो दोनों के बारे में एक ही किस्म के अल्फाज बोले गए लिहाजा दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए अगर कोई शख्स कुरान मजीद के ये लफ्ज बोले और इनका तर्जमा ये करे तो तर्जमे में गलत नहीं है मगर मफहूम समझाने में गलत है तर्जमा तो यही है इनकुल तुम सादकिन अगर तुम सच्चे हो मगर कुरान मजीद का मफहूम हरगिज नहीं है मुशरक अल्लाह की बारगाह के रांदे हुए हैं धुतकारे हुए हैं अल्लाह के मकजूब और मलहूल हैं और फरिश्ते अल्लाह के मुहतरम और मुकर्रम बंदे हैं मगर लफ्ज दोनों के बारे में एक ही किस्म की आए तो मतलब क्या है अगर कुरान मजीद की उसलूब को देखा जाए तो फिर मफहूम सही समझ में आएगा वरना मफहूम पर वारदात हो जाएगी और मतलब ही खत्म हो जाएगा इन कुन तुम सादकिन जो फरिश्तों को कहा गया उसका मतलब और है और इन कुल तुम सादिकीन जो मुशरकिन को कहा गया उसका मतलब और है मुशरकिन को जो कहा गया अगर तुम सच्चे हो किस बात में वो और बात है और जो मलाइका को कहा गया अगर तुम सच्चे हो ये और बात है मुशरकिन को कहा गया अगर तुम सच्चे हो किस बात में सच्चे हो तुम जो ये कहते हो कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं उतरता ये खुद बोलते हैं खुद बनाते हैं और खुद सुनाते हैं अल्लाह की तरफ से इन पर कोई आयत नाजिल नहीं होती अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो फिर कुरान की मिसल एक सूरत बना के ले आओ वहां सच्चाई का ताल्लुक इस खबर के साथ है कि तुम जो ये कहती हो कि इन पर कुछ नाजिल नहीं होता अल्लाह की तरफ से इन पर कुछ नहीं उतरता इस बात में अगर तुम सच्चे हो और सरकार पर अल्लाह की तरफ से आयात के उतरने का इनकार यह तो कुफर है लिहाजा उनका जो सिदक चैलेंज किया गया वो सिदक जो है वो कुफर के बारे में था कि तुम जो ये कह रहे हो कि इन पर कुछ नाजल नहीं होता इस बात में तुम सच्चे नहीं हो तुम झूठे हो और उधर फरिश्तों को जो कहा गया तो वो कोई ईमान कुफर का मसला नहीं था वो मसला क्या था फरिश्तों से जब अल्लाह ने मशवरा किया था तो फरिश्तों ने यह कहा था अल्लाह अपने तौर पर अल्लाह के मशवरे से पहले यह कह रहे थे कि अल्लाह हमसे आलम मखलूक पैदा नहीं फरमाएगा कि जिसका इल्म हमसे ज्यादा हो और जो खिलाफत का मुस्तहक हो अल्लाह की खिलाफत का मुस्तक हो और जिसका इल्म हमसे ज्यादा हो अल्लाह ऐसी मखलूक को पैदा नहीं फरमाएगा जब अल्लाह तबारक वाली ने आदम को पैदा फरमा दिया उनको पढ़ा दिया अब उनकी इल्मी बर्तरी को साबित करने के लिए उन्हें तालीम दे दी उसके बाद फरिश्तों को कहा ए फरिश्तों अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि मुझसे हमसे बड़ा आलिम अल्लाह पैदा नहीं करेगा तो फिर मुझे इन बातों के नाम बताओ इन कुन तुम सादिकीन की किस्म के जुमला है एक ही किस्म की आयत है एक ही तर्जमा है मगर फर्क है वहां सच्चाई और एतबार से है यहां सच्चाई और एतबार से है मुशरकों के बारे में ये जुमला बोला गया तो इसका मफहूम और है फरिश्तों के बारे में बोला गया तो इसका मफहूम और है मुशरकों को कहा गया अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ नाजिल नहीं होता तो फिर सूरत बना के ले आओ और फरिश्तों को कहा जा रहा था अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि हमसे बढ़ के कोई खिलाफत का मुस्तक नहीं और हमसे बड़ा इल्म वाला कोई पैदा नहीं हो सकता तो फिर इन चीजों के नाम बताओ अब ये जो उनकी शिद्दत को चैलेंज किया गया ये कोई ईमान कुफर वाली बात नहीं थी ये तो सिर्फ एक उनके दावे को मुस्ताद किया गया कि तुम्हारा जो ख्याल था कि अल्लाह ने हमसे बड़ा पैदा ही कोई नहीं करना हम ही अल्लाह के खलीफा बनेंगे और खिलाफत की लद हमारी होगी ऐ फरिश्तों तुम्हारा ये दावा और ये खबर जो है सच्ची नहीं है ठीक है तुम मेरी इज्जत वाले बंदे हो मेरी मुखालफत तुम नहीं करते मेरी सरकशी नहीं करते और मैंने तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाया है मगर खिलाफत मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है ये है अब जब उसलूब को देखा गया माकबल को देखा गया फिर जाके मफहूम सही निकला वरना दोनों ही इन कुन तुम सादिकीन जो है अगर उन्हें अपने जहर पर रख के ये तकाबुल करते हुए कोई शख्स यहां से यह मफहूम निकाले कि जो कुछ मुशरकों को अल्लाह ने कहा है वही तो फरिश्तों को कहा है फिर फर्क क्या हुआ तो निकल सकता था मतलब मगर बहुत बड़ी गलती थी लेकिन यह गलती तब दुरुस्त होगी जब उसलूब को देखा जाएगा और खालिक कायनात के कलाम के अंदाज के उसलूब को देखने के बाद फिर इस मफहूमी गलती की वारदात से इंसान बच सकता है वरना फितना पैदा करने वाले पुराने मजीद की आजाद से ही फितना पैदा करते हैं युद्लो भी कसीरा वहदी भी कसीरा इसमें इतनी वसतें हैं इसी से हिदायत मिलती है यही से गुमराही चल निकलती है लिहाजा ये है उसलूब यानी कलाम का रुख जो है मुतयन करना अगर उसके रुख को बदल दिया जाए तो लफ्ज वही होंगे तर्जमा वही होगा मगर सारे का सारा मकसद फौत हो जाएगा कुरान मजीद में यह भी मिसाल मिलती है कि एक बात मुशरकिन ने कही अल्लाह तबारक वाली ने एक इर्शाद फरमाया मुशरकिन ने वही दोहरा दिया जब उन्होंने वो दोहराया तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम झूठ बोलते अब अजीब सूरत हाल पैदा हुई एक बात अल्लाह ने खुद फरमाई है और वो जब अल्लाह ने खुद फरमाई है तो वो तो सौ फीस फीसद से भी ज्यादा सच पर मौकूफ है और सच ही सच है लेकिन वही बात जब मुशरकों ने अपनी जुबान से कही तो अल्लाह तला फरमाता नहीं तुम झूठ बोलते हो हल्के कायनात ने यह क्यों फरमाया इस वास्ते कि उन्होंने अल्लाह के कलाम के मफहूम को बदलने की कोशिश की लफ्ज वही है तर्जमा वही है मगर मफहूम को बदला गया तो हल्क कायनात ने अपना ही वो कलाम जिसे सच पर मबनी पैदा मबनी बनाया था और सच फरमाया था जिस वक्त मुशरकिन मक्का ने मुशरकिन और मुनाफिकीन ने उसको बदला यानी किस लिहाज से लफज एक भी नहीं बदला यानी वही मफहूम अदा किया लेकिन लफ्ज वो बोलने के साथ जिस वक्त उन्होंने अपनी तरफ से एक गलत मफहूम भी साथ शामिल करने की कोशिश की तो खालिक कायनात ने उसको मुस्तरद फरमा दिया आज जब हम कहते हैं ना कि फुलां गलत कह रहा है फुला गलत कह रहा है तो हमारे लोग कहते हैं वो तो कुरान पढ़ रहा था कुरान मजीद की आयत पढ़ता है और कुरान मजीद से दर्श देता है कुरान मजीद का दर्श कोई उसकी हक होने की दलील है कुरान मजीद को समझना और समझाना अरे तर्जमा तो तर्जमा रहा हमारे आवाम को तो तर्जमे की गलती का भी पता नहीं चलेगा अरे यहां तो मफहूम पर जाके वारदात हो जाती है और मफहूम पर वारदात की वजह से सारे का सारा ढांचा ही इस्लामी तबाह हो जाता है अब देखिए आठवें पारे में है अल्लाह तबारक बताला ने इर्शाद फरमाया लौशा अल्लाह मा फालू हो मुशरकों का शिरक बयान करके अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो ये ना करते ये जो शिरक कर रहे हैं मुशरक अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते अल्लाह की मशीयत यानी चाहत पर हुआ मशीयत पर हुआ चाहत हमारे जुबान में जरा इसका दूसरा माना भी बनता है अल्लाह की मशीयत पर हुआ मतलब यह है कि अल्लाह तला फरमा रहा था ये मुशरक जो शिरक कर रहे हैं मुझसे बढ़ के नहीं कर रहे कि मैं अगर इनको कुवत से रोकना चाहूं तो रोक नहीं सकता मेरी ताकत से ही तो चलते फिरते हैं मेरी कुदरत से ही तो बोलते हैं और मेरे खा के ही तो जीते हैं लो साल हो माफा आलू हो अगर अल्लाह ना चाहता तो ये पैदा ही ना होते नौ शाह अल्लाह माफा आलू हो अगर अल्लाह की मशीयत ना होती तो मुशरक शिरक ना करते ये अल्लाह की कुदरत से बढ़ के ताकतवर होकर शिरक नहीं कर रहे अल्लाह की कुदरत के ताबे हैं अगर अल्लाह की मशीयत ना होती तो मुशरक शिरक ना करते ये अल्लाह का फरमान है अब दूसरे मकाम पर यही बात मुशरकिन ने कही अल्लाह ने रद्द फरमा दिया कल के कायरात ने फरमा सयकूलदीन अशरकू मेरे महबूब अन करीब मुशरक कहेंगे लो शाह अल्लाह मा अशरकना अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते महबूब मुशरक ये कहेंगे अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते ये कहने के बाद अल्लाह फरमाता है कदाली का तजदाबल लदीना ऐसे ही पहले लोग भी जुटलाते थे ए महबूब इन्हें कह दो इन तब इन तुम इल्ला तखरसूल ए मुशरको बकवास करते हो तुम झूठ बोलते हो गुमान की बात करते हो अटकलें दौड़ाते हो और तकमीने लगा के बात करते हो तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारी ये बात सच्ची नहीं है अब बजाहिर उनका कसूर क्या है जो कुछ अल्लाह ने फरमाया कि लो शाह अल्लाह हो मा फालू हो अगर अल्लाह ना चाहता तो वो शिरक ना करते तो मुशरकिन ने भी यह कहा कि लो शाह अल्लाह हो मा अशरकना अगर अल्लाह ना चाहता तो हम शिरक ना करते लेकिन अल्लाह ने उनके इस बात को इतना सख्ती से रद्द फरमाया उनको तकजीब का ताना भी दिया और यह भी फरमाया कि तुम जन के पुजारी हो वहम के पुजारी हो तुम झूठ बोलते हो ये सारी बातें उन्हें फरमाई उन्होंने तो वही कलाम दोहराया था जो अल्लाह का कलाम था लोग कहते हैं फुला कुरान मजीद से दलाल करता है कुरान मजीद से दलील पेश करता है मुशरक अपने शिरक पर दलील कुरान मजीद से पेश कर रहे थे क्योंकि यहां तो सरकार ने अल्लाह ने फरमाया कि अन करीब कहेंगे यह आठवें पारे में है और चौदहवें पारे में है जब उन्होंने कह दिया उन्होंने कहा काल अल्लादीना अशरकू लऊ शाह अल्लाह मा अबदना मुशरकों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम किसी की इबादत और की ना करते वो उन्होंने कह दिया जिसका अल्लाह ने वादा किया था कि वो कहेंगे महबूब ये तुझे कहेंगे मैं पहले जवाब बताता हूं तुमसे वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो हम इबादत किसी दूसरे की ना करते उसने चाहा है तो हमने किसी की इबादत की है हम जो बुतों के पुजारी हैं तो अल्लाह की मशीयत से हैं अब मेरी बात तो समझ आ रही है तीनों आयात पहले ये फरमान अल्लाह ने खुद फरमाया कि लो शाह अल्लाह हो मा पालू हो यह भी आठवें पारे में है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो शिरक ना करते फिर फरमाया सयकूर उल्लदीन आशैकू लो शाह अल्लाह अन करीब वो कहेंगे जिन लोगों ने शिरक किया है अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम शिरक ना करते और फिर फरमाया तीसरे नंबर पर जो चौदहवें पारे में है कि जिस चीज का पहले खतरा महसूस हो रहा था वो चीज सामने आ गई उन्होंने कहा लव शाह अल्लाह मा अबदना अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो हम बुतों की इबादत ना करते हमने की तब है पहले उसने चाहा है तो अब गौर कीजिए अल्लाह ने इनकी बात को रद्द क्यों किया हालांकि बात वही कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने की है रद्द अल्लाह ताला ने क्यों कर दिया मुशरकों की बात को रद्द इस वास्ते किया कि वो मफहूम पर वारदात कर रहे थे कुरान मजीद के मफहूम को बदल रहे थे लफ्ज वही है जो अल्लाह के हैं यानी अगरचे मुतरादिफ लफ्ज को आ गया है मगर असल में वही है जो अल्लाह के अल्फाज हैं जो अल्लाह का कलाम है वही है मगर अल्लाह ने उनको झूठा कहा उनको जन का पुजारी कहा उनकी तरदीद फरमाई किस वास्ते कि वो अल्लाह के कलाम का मफहूम बदल रहे थे तर्जुमा नहीं बदल रहे थे लफ्ज भी नहीं बदल रहे थे मफहूम बदल रहे थे जैसे कुछ आज लोगों की आदत बन गई है अल्लाह की आयात जो बुतों की है वो मोमिनों पर लगाते हैं मफहूम बदल के और अल्लाह की आयात जो बुतों के बारे में वो बलियों पर पड़ते हैं लफ्ज वही है तर्जमा वही करते हैं और स्टिकर वही छिपाते हैं और मफहूम वो लेते हैं जो उनके दिलों में गंदा मफहूम है तो ये वो तरीका है जो मुशरकों ने अपनाया अल्लाह ने फौरन उनकी तरदीद फरमा दी क्या उन्होंने मफहूम बदला था मफहूम ये बदला एक जरा तमहीज समझ लें एक है मशीयत मशीयत का माना अल्लाह का इरादा तो कायनात में एक पत्ता भी अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं हिल सकता लिहाजा मशीयत आम है अगर कोई नेक काम कर रहा है वो भी अल्लाह की मशीयत से हो रहा है और अगर कोई बुरा काम कर रहा है वो भी अल्लाह की मशीयत से हो रहा है एक है रिजा रिजा अल्लाह की नेक काम के साथ है बुरे के साथ नहीं है मशीयत तो नेक की भी है बुरे की भी है मशीयत से अल्लाह की मशीयत से बुरा बुराई कर रहा है कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के इख्तियार और अल्लाह की दी ताकत से ही वो कर रहा है मशीयत अल्लाह की नेक के बारे में भी है बुरे के बारे में भी है मगर अल्लाह की रजा बुरे काम में शामिल नहीं है नेक काम में शामिल है यह फर्क है मशीयत में और रजा में अमूमी तौर पर शायद उर्दू दान बोलते हुए ये एक ही समझ लेते हैं लेकिन अरबी जुबान में मशीयत और चीज है रिजा और चीज है मशीयत नेक की भी हो सकती है और बुरे काम की भी हो सकती है क्योंकि जो बुरा है उसका कोई और खुदा नहीं जिससे उसने ताकत ली है काम करने की ये भी अल्लाह ही का बंदा है और अल्लाह के निजाम के चल रहा है ये अल्लाह की कुदरत से बढ़ के गुना नहीं कर रहा ये अल्लाह की मशीयत से ही हो रहा है मगर जब नेक काम कर रहा है मशीयत के साथ अल्लाह की खुशनुदी भी शामिल है रिजा भी शामिल है और जब बुरा काम कर रहा है मशीयत है मगर रिजा नहीं है अब देखो क्या हुआ जब अल्लाह ताला ने फरमा लो शाह अल्लाह हो मा फालू हो अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो मुशरक शिरक ना करते अल्लाह अपनी मशीयत का इजहार फरमा रहा था कि मेरी कायनात और मेरी मुल्क से मेरी सल्तनत से ये मुशरक बैर नहीं है कि ये अपने आप करते फिरते हैं जो कुछ करते फिरते हैं मेरी कुदरत के ताबे हैं मुझसे बढ़ के नहीं कर रहे मेरी मशीयत के नीचे हो रहा है जो कुछ हो रहा है अल्लाह का मकसद सिर्फ अपनी मशीयत को जहर करना था लेकिन हुआ क्या जब मुशरकों ने शिरक किया तो सरकार ने फरमाया तुम तो मारे जाओगे नारे जहन्नम के शोले तुम्हें खा जाएंगे तुम्हें आजाद होगा तो मुशरकों ने जवाब में क्या कहा उन्होंने कहा लो शाह रखना तुम हमें आजाद से डराते हो क्यों डराते हो हम तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक शेख कर रहे हैं वही मशीयत तलब जो था उससे उन्होंने रिजा वाला मफहूम भी जाहिर कर दिया हालांकि मशीयत रिजा को मुस्तलजम नहीं है कि जो भी अल्लाह की मशीयत से हो अल्लाह उस पर राजी भी हो मशीयत तो नेक की भी होती है मशीयत तो बुरे की भी होती है मगर रिजा सिर्फ नेक काम पर शामिल है बुरे काम में शामिल नहीं है तो मुशरकों का रद्द अल्लाह ने इस बात से फरमाया कि उन्होंने शाह अल्लाह बोल के सरकार के सामने रिजा का इजहार किया कि हमारे कुबर पर अल्लाह राजी है अगर अल्लाह ना चाहता तो हम बुतों की प्रस्तश क्यों करते अल्लाह राजी है इस बात से हम बुतों की परस्तश करते वही कलाम अल्लाह का जो खालके कायनात ने खुद इस्तेमाल फरमाया था जब बुद्धों के पुजारियों ने मुशरकों ने अपने सिर को दिफा देने के लिए और बुतों की इबादत करने के लिए जब उन्होंने उसी कलाम के लफ्ज नहीं बदले उसका तर्जमा नहीं बदला बल्कि मफहूम बदला है कि उसमें सिर्फ मशीयत थी इन्होंने मशीयत के साथ रिजा को भी जहर किया है सरकार से कहने लगे हमें भला क्यों अजाब हो सकता है क्योंकि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम शिरक क्यों करते उसने चाहा है वो राजी है तभी तो हम कर रहे हैं मशीयत के साथ जब उन्होंने अपने मफहूम में रिजा को शामिल कर दिया खाल के कायरात ने फौरन फरमा इन तत्ना इन्ना व इन अंत मिल्ला तक रसून बकवास ना करो मुशरको मेरी मशीयत जो है वो हर काम में है नेक में भी है बुरे में भी है मगर मेरी रिजा बुतों के सजदों में नहीं है मेरी रिजा अपने सजदों में है देखिए एक ही आयत हल्के कायरात ने फरमाया लो शाह अल्लाह मा पालू हो इसी बात को उन्होंने दोहराया पुराने मजीद से दलील पकड़ रहे थे मुशरक पुराने मजीद से दलील पकड़ के अपने शिल्प को दिफा देना चाहते थे सरकार के सामने कह रहे थे हमें आजाद से ना डराओ क्योंकि हम तो अल्लाह की चाहत पर कर रहे हैं अल्लाह की मशीयत पर सब कुछ हो रहा है अगर उसकी मशीयत है तो रजा भी है जब उन्होंने इस तरह मफहूम बदला तो खाल के कायनात ने दो मरतबा उनका रद्द फरमाया फरमा मेरे कलाम का मफहूम ना बदलो अगर अगरचे बोल तुम वो ही रहे हो मगर मेरी मशीयत के साथ जरूरी नहीं कि रिजा भी शामिल हो मशीयत तो मेरी हर काम में है नेक काम भी मेरी मशीयत से होता है दुनिया में बुरा काम भी मेरी मशीयत से होता है मगर मेरी रिजा सिर्फ नेक में शामिल है बुरे में शामिल नहीं है अब देखिए इसके बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तला का एक फरमान है इज्जत लाह जमीया इज्जत सारी अल्लाह के लिए है तीन मरतबा ही आया एक मरतबा फ फन्नाज्जत लाह जमिया पांचवें पारे में फिर ग्यारहवें में है कि इन्नाज्जत लाह जमिया और फिर बाईसवें पारे में फलिल्लाह तो जमीया गौर करना कि इज्जत बेशक इज्जत अल्लाह के लिए है सारी की सारी बेशक इज्जत अल्लाह के लिए है सारी की सारी अब ये आयत सामने रख के कोई शख्स इसका रुख बदले तो मफहूम बदल जाएगा रुख इसका बदले और वो कहे कि अल्लाह ने तो कुरान मजीद में इतनी ताकीद से फरमाया है इन भी ताकीद के लिए है और फिर जमिया भी ताकीद के लिए है कि सारी इज्जत अल्लाह की है लिहाजा मतलब क्या निकला बाप की कोई इज्जत नहीं भाई की कोई इज्जत नहीं उस्ताद की कोई इज्जत नहीं किसी बड़े की कोई इज्जत नहीं क्योंकि हम इज्जत करेंगे तो माजल्ला गुनागार हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह फरमाता है इज्जत सारी मेरी है अब तीन आयात हैं इन्नल इज्जत अल्लाह जमीया इन्नल इज्जत अल्लाह जमीया फलील्ला तो जमीया तीन आयात के अंदर हल्के के कायनात ये ऐलान फरमा रहा है कि इज्जत सारी मेरी है तो फिर अब मफहूम रुख जब इसका बदला जाए तो फिर यह साबित होगा तीन आयात से जो हुक्म साबित हो रहा है तो कति है ना तो फिर इनकार कर देना चाहिए और कोई दूर नहीं है वो खास मखसूस तबका जो आयात का मफहूम बदल रहा है कुछ दिनों के बाद स्टिकर यह भी छाया कर देगा खुदा की कसम अगर उन्हें अपनी इज्जत का खतरा ना होता तो रसूल्ला की इज्जत के खिलाफ जरूर स्टिकर छापते कि अल्लाह फरमा रहा है कि इज्जत सारी मेरी है किसी और की इज्जत नहीं है अपनी बेइज्जती से बचते हैं कि फिर बच्चे हमारी इज्जत नहीं करेंगे यह सिलसिला चल रहा है मफहूम बदलने का अब इन नज्जत अल्लाह जमीया इज्जत सारी अल्लाह के लिए है अब कोई कहे कि अब इज्जत जब अल्लाह के लिए है तो फिर हम किसी की क्यों इज्जत करें ठीक है सारे बंदे हैं इज्जत हम किसी की नहीं करेंगे क्योंकि इज्जत सारी अल्लाह की है अगर ये कोई तर्जमा करे तर्जमा ये है मगर जो मफहूम बता रहा है मफहूम वो दुरुस्त नहीं है तर्जमा ये है बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है मगर मफहूम यह निकालना कि बाप की इज्जत नहीं मफहूम यह निकालना कि भाई की इज्जत नहीं मफहूम यह निकालना कि उस्ताद की इज्जत नहीं मफहूम यह निकालना कि वली की इज्जत नहीं मफहूम यह निकालना कि सहाबी की इज्जत नहीं मफहूम यह निकालना कि अहले बैत की इज्जत नहीं मफहूम यह निकालना कि नबी की इज्जत नहीं ये सारे मफहूम गलत हैं तर्जमा सही है फैनल इज्जत अल्लाह जमिया बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिए है तर्जमा यह है और आगे मफहूम जो है वो गलत निकल आएगा तो मफहूम सही किस तरह होगा मैं तो समझा रहा हूं ना ये कि मफहूम पर कैसे आजकल वारदात हो रही है लफ्ज वही है तर्जमा वही है मफहूम गलत बना के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है मेरे लिए खुदा काफी है इस बात में कोई शक नहीं हसबी अल्लाह मेरे लिए खुदा काफी है इसका रुख न बदलो इसकी जेब को तब्दील न करो ये मेरे महबूब ने जो कहा तो मुशरकों को कहा ए मुशरको तुझे मेरी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं ऐ बुद्धो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मेरे लिए मेरा खुदा काफी है कलाम कलाम का रुख बदला जा रहा है मफहूम पर वारदात की जा रही है लफ्ज वही है तर्जमा वही है मफहूम गलत लोगों को समझाया जा रहा है जैसे मुशरकिन ने गलत मफहूम समझाया वही लफ्ज बोले अल्लाह ने फौरन उनका रद्द फरमा दिया फरमाया तुम्हारा हक से कोई ताल्लुक नहीं है अब देखिए मैंने तीन आयात तुम्हारे सामने पड़ी है जिनका लफ्जी तर्जमा तो यह है इज्जत सारी किस की है अल्लाह की तो क्या बाप की नहीं है बाप की है या नहीं है बाप की इज्जत है भाई की है और उस्ताद की है पीर की है शाह की है सब की है मगर लफ्ज जो है उनका कोई सिक्के का शब्बाद तो आप सोच में तो पड़ जाएंगे कि सारी इज्जत अल्लाह की है तो मोहतरम सामीन हम देखेंगे मफहूम कैसे बनता है कुरान मजीद की आयत का इसका जो अल्लाह ने फरमाया कि सारी इज्जत मेरी है किन के मुकाबले में फरमाया रूह किधर था कलाम का अल्लाह का रूह किधर था अल्लाह के कलाम का रूह किधर था किन की इज्जत की नफी कर रहा था और किन की इज्जत का इसी अंदर सबूत फरमा रहा था रुख बदलने से सारा मतलब खराब हो रहा है बात असल में यूं है कि पांचवें पारे में इसका माकबल यह है अल्लाह तला फरमाता बशरिल मुनाफिकीन मेरे महबूब मुनाफिकों को बशारत दो किस बात की बेअन लहम अजाबन अलीमा कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है मुनाफिक कौन है फरमा अल्लाजीना यत्ता फिजून अल काफिरीना अल्लाजीना फिजून वो मुशरक है जिन्होंने पकड़ा किसको कुफार को औलिया अमिन दूनिल्ला औलिया अमिन दूनिल मोमिन ये मोमिनों को छोड़ के ये जाके काफिरों को दोस्त बनाते फिर रहे हैं मुशरक मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बना रहे हैं अल्लाह तला फरमाता अयब तबूना इंदमुल इज्जत ये अबू जाल से इज्जत लेने जाते हैं अयब तबूना इन इंदमुल इज्जत ये मुनाफिक मुशरकों के पास जाते हैं इज्जत की तलाश के लिए इज्जत की भीख मांगते हैं अबू जाल से महबूब कह दो फैन इज्जत अल्लाह जमिया इज्जत अबू जाल की नहीं इज्जत खुदा की है अब कलाम का रुख मुतन हुआ मातबल के साथ अयब तबू ना इन दहमुल ये मुनाफिक जात इज्जतें वहां से लेते हैं मुनाफिकीन मुसलमानों को छोड़ के अबू बकर को छोड़ के उमर फारूक को छोड़ के रिजवान मजमाइन इतने इज्जतों वालों को छोड़ के बुजार के जाल पास बैठते हैं महबूबी ने कहो क्या वहां से इज्जत लेने जाते हो नल इज्जत अल्लाह जमीया इज्जत तो सारी मेरे खुदा की है अब क्या अगरचे इन्ना भी है जमिया भी है मगर यहां जो नफी हुई तो अबू जाल और मुशरकों की इज्जत की नफी हुई है मोमिनों की इज्जत की नफी नहीं हुई ये रोक है कलाम का उसने मुतयन कर दिया इज्जत की नफी हुई तो मुशरकों की नफी हुई कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है अगर चे बोला यह जा रहा है कि इज्जतें सारी खुदा की हैं मगर मोमिन की इज्जत की नफी नहीं की जा रही दूसरी आयत जो ग्यारहवें पारे में है अल्लाह तला ने फरमाया महबूब ला यह जुन का कौल मेरे महबूब तुझे उनकी बात गम में ना डाले ये जो मुशरक कहते हैं लस्ता मुरसला कि तुम रसूल नहीं हो ये बात जो इन खबीसों की है महबूब तुझे गम में न डाले क्यों इन इज्जत अल्लाह जमीया इस वास्ते कसूल इन्होंने नहीं मैंने बनाया है इज्जत मैंने दी है लिहाजा उनकी नफी से इज्जत की नफी महबूब तुम्हारी की नहीं होगी ये बात आपको गम में न डाले उनकी बात आपको गम में न डाले क्यों और मैं इन इज्जत अल्लाह जमीया वो तो इज्जतें इनके पास है मैंने तो सारा तुमको अता फरमाई है इज्जतें सारी मेरी है देखो अंदाज कलाम का बता रहा है अगरचे सिर्फ इतना जुमला लिया जाएगा इन्ना भी है जमीया भी है मगर जब कलाम के रुख को देखा गया कि पीछे बात कैसे आ रही है तो पता चला अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया है मुशरको तुम जो कहते हो कि लश्ता मुरसला महबूब को कि तुम रसूल नहीं हो अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर फरमाया कुल कफा बिल्ला है शहीदा महबूब तुम कह दो इनको मुशरिकों को तुम्हें मुझे तुम्हारी गवाहियों की कोई जरूरत नहीं मेरे रिसालत पर मेरे खुदा की गवाही काफी है वो गवाह काफी है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अब ला यहजुन का कौल हम महबूब आपको उनका कौल गम में ना डाले क्यों इस बात से कि इन नल इज्जत अल्लाह जमीया इज्जतें इनके पास नहीं मेरे पास हैं वो बेशक नफी करते रहे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इज्जतें सारी मेरी है तीसरी आयत अल्लाह ताला ने फरमाया बाईसवें पारे में सूर्य फात्र में फरमाया मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जत जमीया जो इज्जत चाहता हो उसे बता दो मेरे महबूब की इज्जतें मेरे पास हैं अब इस आयत ने ही वाजे कर दिया कि इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अल्लाह ने अपने पास बंद करके रखा हुआ है कोई उलूहियत की तरह की चीज है कि और किसी को दी नहीं जा सकती फरमा मन कान युरीदुल इज्जता ए लोगो तुम में से जो भी इज्जत चाहता हो तो क्या करे फलिल्ला इज्जत जमी या इज्जतें अल्लाह के पास है उधर जाए नमाजें पढ़े रोजे रखे अल्लाह इज्जतें दे देगा लिहाजा अब वही लफ्ज जिससे बजाय ये समझा जा रहा था कि इज्जत और किसी की नहीं जब हमने उसके मफहूम को समझा मातबल को पढ़ के तो हर आयत से यह साबित हुआ कि खाल के कायनात ने जो नफी फरमाई है बुद्धों की इज्जत की नफी फरमाई है मुशरकों की इज्जत की नफी फरमाई है अपनी इज्जत की नफी नहीं फरमाई अपने रसूलों की इज्जत की नफी नहीं फरमाई और मोमिन की इज्जत की नफी नहीं फरमाई कितना वाजे लफ्ज थे और कैसा गलत मफहूम निकल रहा था लेकिन जब हमने माकबल को देखा उस रूब कराम को देखा तो मुतयन हो गया जब अल्लाह फरमाता है कि ये मुनाफिक मुशरकों से जाकर इज्जत मांगते हैं महबूब इन्हें फरमा दो वहां जाने की जरूरत नहीं इज्जतें मेरे पास हैं महबूब ये जो तुम्हें कहते हैं कि तुम रसूल नहीं हो घबराने की बात नहीं इज्जतें मेरे पास हैं और महबूब भी अपने सिहाबा से कह दो कि जो इज्जत चाहता हो उसे चाहिए कि वो मेरी तरफ रजू करे इज्जतें सारी मेरे पास हैं जब ऐलान उसने किया तो देना चाहता होता था अभी तो ऐलान किया है कि मेरे पास इज्जतें हैं जो चाहता हो मेरी तरफ आ जाए यानी मैं उसको इज्जत अता कर दू अब माँ कबल को देखने से मफहूम दुरुस्त हुआ वरना तर्जमा तो सबका एक था और बात जो आगे साबित की जा रही थी वो गलत थी जब हमने माँ कबल देखा मफहूम को देखा तो फिर अब जाके समझ आई असल में अगरचे इन्ना भी मौजूद है जमिया भी मौजूद है अल्लाह का इस कलाम से मकसद अपने महबूबों की इज्जत की नफी नहीं अपने दुश्मनों की इज्जत की नफी है और अल्लाह ने फिर इस पर मोहर सदाकत फिर मजीद सबक कर दी किस तरह किस किस तरह सूरह मुनाफिकीन में है यकूलूना लजाना इलल मदीना थी लुक्र जन्नल मिनहल अजल इबन सलूल बेवकूफ ने कहा अब्दुल्ला बिन उबई इबन सलूल जो मुनाफिकों का सिरदार था उसने एक जंग से गजबा से वापस आ रहे थे तो उसने कहा लर रजाना इल मदीना थे अगर हम मदीना की तरफ लौटे लयुखरी जन्नल आजु मिनहल अजल तो मदीना शरीफ में जो इज्जत वाले हैं वो जलीलों को माजल्ला बहर निकाल देंगे अपने आप को इज्जत वाला कहा और सरकार को और सरकार के गुलामों को अजल कहा कि जब हम वापस लौटेंगे तो इज्जत वाले जिल्लत वालों को बैर निकाल देंगे जब उसने ये बकवास किया तो खाल के कायनात ने क्या नाजर फरमाई साथ ही फरमान आ गया हो वाले रसूल ही वलमिना वलाकिन मुनाफिकीन अल्लामून मुनाफिको बकवास ना करो इज्जत मेरी भी है मेरे रसूल की भी है उनके गुलामों की भी है अहल इज्जत हो अल्लाह के लिए इज्जत है फिर वाले रसूल ही उसके रसूल की भी इज्जत है बलिल मोमिन और मोमिन की भी इज्जत है क्या ये कोई और कुरान है उसी का हिस्सा है जिसमें पहले तीन मरतबा ये आ चुका था इन इज्जत अल्लाह जलिया इज्जतें सारी अल्लाह की है वही कुरान ये कहता है अल्लाह की भी है रसूल सलाम की भी है सारे मोमिन की भी है पता चल गया जहां ऐलान हो रहा था कि सारी अल्लाह की है नफी अल्लाह मुशरकों की कर रहा था इनकी नफी नहीं फरमा रहा था यह है मकूम कुरान को समझना यह है फाम कुरान यह है कुरान पानी और यह है कुरान पानी लोग दो लफ्जों का तर्जमा पढ़ते हैं और मुजहद बन के बैठ जाते हैं जब तक उस उसलूब पुराने मजीद को ना समझा जाए उस वक्त तक पुराने मजीद से हिदायत नहीं मिल सकती अब तर्जमा यही था अगर वो तर्जमा करोगे तो फिर आयतें आपस में टकरा जाएंगी उधर यह सारी इज्जतें अल्लाह फरमाता है मेरी है और इधर यह है कि मेरे रसूल इस्लाम की भी है और सिर्फ इनकी नहीं सारे मेरी इनकी इज्जतें हैं तो पता चला कि खालिक कायनात के कलाम का रुख वहां भी मुशरकों की तरफ था उनकी नफी फरमा रहा था वहां भी अपनों की नफी नहीं फरमा रहा था सारे पुराने मजीद में यह उसलूब है अल्लाह तला फरमाता लई सलहान दून वली यू वला शफी उस नफ्स के लिए कोई वली नहीं है और कोई शफी नहीं है ये अल्लाह के कलाम करो किस तरफ है मुशरक नफ्स की तरफ है कितनी ज्यादती है कि ये आयत मोमिन के बारे में लोग पढ़ लेते हैं कि मोमिन का क्यामत के दिन कोई शफी नहीं होगा कोई वली नहीं होगा अल्लाह ने यह मुशरक को कहा बारकुम मिन दून मिन वली क्यों वाला नसीर ए मुशरको तुम्हारा कोई बली नहीं तुम्हारा कोई मददगार नहीं ये मुशरकों को कहा मोमिन कौन है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है मोमिन मेरे वो हैं जो ये कहते हैं वज अल्लाह ना मिल्ल का वलीजा बज अल्लाह ना मिल्ल दुन का नसीरा मोमिन कहते हैं अल्लाह अपना कोई वली हमें दे अपना कोई नसीर हमें दे दे मोमिन के वली की नसी नहीं है मोमिन के मददगार की नफी नहीं है मोमिन के शफी की नफी नहीं है मोमिन के नसीर की नफी नहीं है ये जहां जहां नफी है ये रुख था मुशरकों की तरफ बुतपरस्तों की तरफ कागड़ों की तरफ बुतों की तरफ इन गुस्ताखों ने पुराने मजीद के मफहूम पर हमला करने वाले इन जगालों ने इतनी जाति की कि उन आयतों को मोड़ के मुकदस बलियों और मोमिनों की तरफ कर दिया ना ये आसान था मफहूम पे डाका डाला जा रहा है और अल्लाह के कलाम को बदला जा रहा है अल्लाह ताला ने फरमाया था इन मिन फरी कहीं बुन अलसरत हम बिल किताब फरमा अहल किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबानें टेढ़ी करती हैं किताब के अंदर तौरात और इंजील को पढ़ते हुए जुबान टेढ़ी करती हैं क्यों ले तहसबू हो मिनल किताब ताकि फुला चीज को भी तुम किताब में से ही समझ लो बमा हुआ मिनल किताब हालांकि वो किताब से नहीं है ये उनकी आदत थी ये उनकी आदत थी जो इन तक पहुंची उनकी आदत थी कि किताब का कुछ हिस्सा कुछ चीजों को बनाते थे अल्लाह फरमाता हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है ऐसे ही आज वली की मोहब्बत पर डाका डालने वाले अंबिया किराम की तोहीन करने वाले और बुतों की आयात बलियों पर किस्मा करने वाले ये बलियों को शायद में शामिल कर रहे हैं अल्लाह का वही फरमान सदाकतों की आवाज दे रहा है कि ये आवाज टेढ़ी कर रहे हैं जुबान बदल बदल के चाहते हैं कि उनको शामिल करें के वो इस हुक्म में शामिल नहीं है मोहतरम सामीन बात बड़ी काबिल गौर है टाइम खत्म हो गया मौजू बड़ा तवील था बहरहाल मैं इस पर जो तफरियात बयान करना चाहता था वो तो बाद में है मैंने नफ्स मसला इंशाला आपको समझा दिया है मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस पर बाकी जो कुछ आपके सामने कोई आयत पेश करे जिस जगह से भी आप उससे बिला झिझक कह दें कि तुम मफहूम कुरान बदल रहे हो मफहूम कुरान पर तुम डाका डाल रहे हो माकबल को पढ़ के आओ और दूसरी आयात को साथ ही लाओ और फिर बताओ कि इसका मतलब क्या बन रहा है वरना हमारे साथ बात ना करो ये बात मफहूम कुरान पर हमला बड़ा पुराना है मुशरकों ने भी किया और फिर हजरत अली रदी अल्लाह तला के दौर में मुसलमानों की एक जमात जो मुसलमानों में शुमार होती थी अगरचे बाद में हजरत अली रदी अल्लाह तु ने जब उनको कत्ल करवाया तो साबित किया यह मुर्ताद है मुसलमान नहीं है मुसलमानों की एक जमात जिसको खबारिज के रूप में पेश हुए और वो इराक की कूफा के करीब एक बस्ती थी हरौरा वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह तु के ईमान का इनकार कर दिया उनसे पूछा गया कि तुम अमीर मोमिनीन को मोमिन भी नहीं समझते ये सैद आलम वसल्लम के दामाद हैं बड़े पक्के सिहाबी हैं इतनी फजीलतों वाले हैं उन्होंने कहा हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है इन्होंने अल्लाह की हुक्म की खिलाफ वर्जी की है आयत का इनकार कर दिया है लिहाजा हम इनको नहीं मानते आयत क्या है कहने लगे अल्लाह तला का फरमाना इनिल हुक्म इल्ला लिल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है देखो तो ही परस्त कहने लगे हुक्म सिर्फ अल्लाह का है हम हजरत अली रजी अल्लाह तला को नहीं मानते माजल्ला मोमिन ही नहीं मानते अमीरुल मोमिन तो बड़ी दूर की बात है हम इनको मोमिन ही नहीं मानते इस वास्ते कि इन्होंने इस आयत का अमलन इनकार कर दिया है सामीन की मस्जिद के लिए तावन की तरफ भी खसूसी तवज्जो देना और बात भी साथ साथ सुनते जाना जब यह मसला पैदा हुआ कुरान मजीद से उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं है किसी से जाती बस कुरान मजीद की वजह से इख्तलाफ है कि अल्लाह का फरमान सच्चा है कि इनिल हुक्म लिल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और ये जो हजरत अली हैं इन्होंने गैरुल्लाह का हुक्म मान लिया किस तरह उन्होंने कहा कि जब इनका हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तला से इख्तलाफ था तो इख्तलाफ को हल करने के लिए सालिस मानेंगे हजरत अमर बिनास और हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तला की सालिसी को उनके फैसले को इन्होंने माना उनको इन्होंने हकम बनाया इन्होंने गैरुल्लाह को हकम बनाया गैरुल्लाह को फैसल बनाया और अल्लाह फरमाता इन्हें हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और ये गैरुल्लाह को हुक्म मानने वाले हैं लिहाजा इन्होंने पुराने मजीद का इनकार कर दिया है हम इनको मोमिन नहीं मानते देखा आज तुम घबरा जाते हो जब कोई पुराने मजीद की आयत पढ़ के बात करता है तो आप कहते हैं वो तो कुरान पेश कर रहा है हजरत अली को माज अल्लाह उनके ईमान की नफी साबित करने के लिए कुरान पढ़ा जा रहा था यहां तक हजरत अली खूफा की मस्जिद में जुमे का खुतबा दे रहे थे एक आदमी उठ के खड़ा हो गया कहने लगा है अली इन हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और तुमने गैर अल्लाह का हुक्म माना है आपने फरमाया कलेमा तो हक्किन उरीदा बिहल बातिल बात सच्ची है मफहूम तुम गलत ले रहे हो इनिल हुक्म इल्ला लिल्ला लफ्ज सच्चे हैं तर्जुमा भी सच्चा है मगर ए लोगों मफहूम तुम गलत ले रहे हो मफहूम पर वारदात की तुम्हें मिसाल बयान कर रहा हूं आज मफहूम पर वारदात करने वाले यू ही कर रहे हैं इन हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है ये लफ्ज पढ़े ये आयत पढ़ी हजरत अली रजी अल्लाह तला ने कहा कौन आयत को रद्द कर सकता है आयत सच्ची है मगर उरीदा बिहाल बातिल इससे मुराद गलत ली जा रही है मुराद गलत है आयत गल नहीं है आयत सच्ची है आयत सच्ची है कुल हसबी अल्लाह आयत सच्ची है मगर सरकार को काफी ना मानना यह झूठ है आयत सच्ची है मगर बलियों की मोहब्बत को बाहर निकालना यह झूठ है आयत सच्ची है मगर अलिया पर बुद्धों का इल्जाम लगाना यह गलत है आयत सच्ची है इनिल हुक्म इल्ला हुक्म सारा अल्लाह का है बात यूं ही हजरत अली रजी अल्लाह तला ने उन लोगों के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया हदीस शरीफ की किताब नसबुर राया की तीसरी जिल्द में यह बात मौजूद है जब आपका लश्कर उस बस्ती के करीब पहुंचा जहां वो चार पांच छह हजार की तादाद में इकट्ठे थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला ने कहा अली थोड़ा सा ठहर जाओ तुम अब्रदू बिजोर जरा जोर ठंडी करके पढ़ो मैं जाके उनसे पूछूं तो सही उनका इख्तलाफ क्या है हो सकता है मैं समझाऊं तो वो समझ जाए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तु वहां पर मुजाकरात के लिए चले गए जब वहां पहुंचे तो बड़े बड़े नेक परहेजगार दाड़ियों वाले और कुरान हाथ में है और बैठे हैं सारे आपने फरमाओ तुम्हें क्या हो गया है उस शख्सियत से इख्तलाफ क्यों करते हो जिनके बारे में अल्लाह की आयात नाजिल हुई है और कुरान जिनके घर उतरता रहा है नबूबत के साय तले जो बड़े हुए हैं मैं उनकी तरफ से मुजाकरात के लिए आ रहा हूं मैं सरकार के मुहाजरीन की तरफ से आया हूं अंसार की तरफ से आया हूं वो सारे लश्कर में बैठे हैं मुझे उन्होंने बात करने के लिए भेजा है बताओ तुम्हारा इतराज क्या है उन्होंने कहा कि हम तो कुरान मानने वाले हैं और तहीद वाले हैं अल्लाह ने फरमाया इनिल हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है तो ये जो गैर अल्लाह का हुक्म मानते हैं हम इनको मोमिन नहीं मानते बस ये इख्तलाफ है हमारा कोई और इख्तलाफ नहीं है ठीक है जितना बड़ा भी कोई है ठीक है अपनी जगह मगर अल्लाह की आयत से बड़ा तो नहीं है इन्होंने आयत का इनकार किया हम नहीं इनको मानते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तरमाया कुछ और कोई और एतराज बहरहाल उन्होंने तीन एतराज किए अब उन सब के बयान का वक्त नहीं है वो मैं दो जो बाद वाले हैं किसी और मौका में बताऊंगा पहला एतराज उनका यही था जो आयत से मुतलिक था वो कहा उन्होंने कि इनिल हुक्म इल्ला अल्लाह का फरमान है कि हुक्म उसी का है और इन्होंने दो हाकिम माने दो फैसल मान लिए उल्ला बना फैसल बना लिए इन्होंने आयत का अमला इनकार कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बड़े ठंडे अंदाज में आपने उन्हें समझाया गौर करना यह है मुनाजराना अंदाज और यह है बहस का अंदाज आपने फरमाया तुम्हें कुरान मजीद की एक आयत आती है तुमने नहीं पढ़ा कुरान मजीद से उन्होंने कहा क्या आपने फरमा अल्लाह का फरमान है सातवें पारे में अल्लाह का फरमान है क्या ला तुल सईद व अंतुम हरम हालते एहराम में शिकार ना कत्ल करो मन कतलहू मिनकुम फजा उम मिसलो मा मिनन नाम जिसने तुम में से उस शिकार को जानबूझ के हालते एहराम में कत्ल कर दिया उस पर जजा लाजुम है किस तरह की फरमाया अल्लाह ने फरमाया जिस तरह का उसने जानवर मारा है उसी की मिसल की जगह उस पर लाजम है मिसल हजरत इमाम आजम फरमाते हैं कि मिसल हो उस मरे हुए जानवर की कीमत के लिहाज से इमाम शाह भी फरमाते हैं सूरत और खिलकत के लिहाज से बहरहाल मिसल उस पर लाजिम है जिसने हालत हराम में जानवर का शिकार किया जानवर शिकार का कतल किया अल्लाह तला ने फरमाया इसने बड़ा जुर्म किया है लिहाजा ये उसी की मिसल जजा दे अब वो मिसल कौन बताए कि फुला जानवर की फुला मिसल है या फुला जानवर की मिसली कीमत इतनी है कौन बताए अल्लाह ताला ने फरमाया यह कुम भी जवाद लिमिनकुम मैंने कोई तो हर एक बारे में आयत नाजल नहीं करनी कि कबूतर की यह जजा है और खरगोश की यह जजा है तुम में से दो से का आदमी जो हुक्म लगा दे वो मेरा हुक्म होगा यह कुम भी जवाद कुम तुम में से दो आदिल आदमी जो हुक्म करें जो हुक्म करें वो मेरा हुक्म है तुम तो में से दो आदिल आदमी खा ये मसला पहली सदी में आ जाए दूसरी में आ जाए चौथी में आ जाए दसवीं में आ जाए ग्यारहवीं में आ जाए या कौमी जवादले मिलकुम तुम तो में से दो आदिल आदमी जो हुक्म करेंगे वही मेरी शरीयत ठहरेगी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या फरमाया फरमाया लोगों तुमने हजरत अली पर आदम बनाने का हुक्म दे रहा है चार आने का खरगोश मर गया है कुरान मजीद ने उसके लिए भी बसले के हाल के लिए दो आदमी हाकिम बनाए हैं कि जो वो हुक्म करें वही शरीफ हुक्म होगा फरमा एक तरफ चार आने का खरगोश है दूसरी तरफ पूरी उम्मत का मसला है हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रजी अल्लाह तला की सुनो पूरी उम्मत का मसला है तुम्हें समझ नहीं आई कुरान मजीद की एक हाथ लेके बैठ गए हो तुम्हें पता नहीं इन हुक्म अल्लाह का मतलब यह है हकीकी हुक्म उसका है वो जिसे चाहे वो भी हाकिम बन सकता है मोहतरम सामिन ये आपने पहले नंबर पे आज पढ़ी और दूसरे नंबर पे फरमाया तुम नहीं देखा तुमने कि अल्लाह तला ने फरमाया इन खिफ तुम शिका का बेन हिमा फब फबासू हाका मिन अहली ही व हकम मिन अहलेहा फरमाया पहले तो मर्द अपनी बीवी को समझाए थोड़ा सा मारे बिस्तर से दूर कर दे फिर भी अगर तुम्हें खौफ हो इनकी आपस में मुखालफत का तो क्या करो झगड़े का अगर खौफ हो तुमको तो क्या करो अल्लाह तला ने फरमाया फिर ये करो फब फबासू गौर करना मम मिन अहली ही व मम मिन अहलिहा दो हकम बनाओ दो सालिस एक मर्द के खानदान की तरफ से और एक औरत के खानदान की तरफ से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यह आयत पढ़ के फरमाया खारजियो कुरान मजीद के समझने के दावे करते हो और कुरान पेश कर रहे हो तुमने यह आयत नहीं पढ़ी मेरा खुदा तो एक घर बसाने के लिए भी दो हकम बनाने का हुक्म फरमा रहा है कहा एक घर की बात है कहां पूरी उम्मत की बात है यह है मफहूम कुरान समझना एक आयत पढ़ के उसका तर्जमा करके ये अपनी जगह पे पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं और ये नहीं देखते कि हमारा हमला किधर जा रहा है हमारे बकवासों की जरूरत कहां लग रही है हमारी तोहीन का असर कहां पड़ रहा है हम किसकी गुस्ताखी कर रहे हैं खारजी इन हुक्म अल्लाह अल्लाह की तोहीद के लंबरदार बने हुए थे हुक्म सिर्फ अल्लाह का है हम गैर का हुक्म नहीं मानेंगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमा तुम तो ऐप ठीक पढ़ते हो मुराद गलत ले रहे हो मेरे खुदा के कुरान में तो यह है कि अगर चार आने का खरगोश मर जाए फिर भी हकम बनाना जायज है और अगर एक घर का मसला उलझ जाए फिर भी हकम बनाना जायज है यहां तक फरमा दिया फला और भी कला यू मिनूना हत्ता यू हक के मुंह का खुदा की कसम महबूब ये उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारे हुक्म को तस्लीम नहीं कर लेंगे हत्ता यू हक मुंह का फीमा शाजारा बई ना होम महबूब जब तुम्हारे हुक्म को ये नहीं मानते तुम्हारा हुक्म मानेंगे तो फिर मोमिन ठहरेंगे अल्लाह का भी हुक्म है अल्लाह के महबूब सलाम का भी हुक्म है और मोमिन आदिल का भी हुक्म है लिहाजा बात लंबी होती जा रही है गुफ्तगु समेटता हूं मेरी ये तकरीर उसूल कुरान और फहम कुरान के लिहाज से एक मेयार की हैसियत है अल्लाह के फजल से मैंने तवील मुतारा के बाद ये बातें खर्ज की और आज आप, आपके सामने पहुंचा दी ये मेरी अमानत है आपके पास आप इन्हें याद रखें आयात याद रखें और फिर आगे मफहूम इसको पहुंचाएं आगे यह जो फितना फसाद का दौर चल निकला है आयत पढ़ के साहिब कुरान पर एतराज किया जाता है और आयातुल्लाह पढ़ के और या उल्लाह पर एतराज किया जाता है इन लोगों का मुंह बंद कर दो कि कहां से तुम कुरान पढ़ रहे हो कुरान पढ़ो तो सारा पढ़ो उसलूब पढ़ो अंदाज देखो और फिर तर्जमा करते हुए मफहूम देखो मफहूम की चोरी ना करो अल्लाह का कुरान अल्लाह की इज्जतों को बयान कर रहा है अल्लाह वालों की भी इज्जतों को बयान कर रहा है मुनाफिकों ने यह कहा था कि हम जलीलों को मदीना शरीफ से बाहर निकालेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मेरे महबूब जलील नहीं है और इनके खादम भी जलील नहीं है फरमाया ये तो इज्जतें वाले हैं मैंने इज्जतें इन्हें भी दी और इनके गुलामों को भी दी इन्हें पता नहीं है वो जब इबन सलूल बकवास कर रहा था उसको पता नहीं था कि मेरे महबूब के सिहादा का अंदाज क्या है वो ये कह रहा था और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा क्या कह रहे थे जब इबन सलूल ने सरकार की सवारी गुजरी और वो कहीं खड़ी थी तो पेशाब उसने किया तो इबन सलूल ने नाक चढ़ाई बुखारी शरीफ में है और दूसरी किताबों में मजीद इजाफे से मौजूद है जब उसने नाक चढ़ाई यानी नफरत सवारी के पेशाब से किया वो सवारी जो सरकार की थी तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कमांडर से हाबी बोल पड़े बल्ला है लाबोलो ही मारे रसूल है अतियाबो रिहम बिन का खुदा की कसम इबन सलूल मेरे नबी के गदे के पेशाब की खुशबू तो इससे अच्छी है हमने ये मोहब्बतों का दर्श आज नहीं बनाया ये तो उन लोगों का है जिन्होंने सरकार को देखा था हम गुलाम करने वाले नहीं हैं मोहब्बत देखो ऐतराज करने वालों तनकीद करने वालों सहाबा की मोहब्बत देखो सहाबी क्या कहता बल्ला है खुदा की कसम क्या लबौलो हिमारे रसूल है आम गदा नहीं वो जो सरकार का गदा शरीफ है उसका जो बौल है वो क्या है दो री हम मिल का इबन सलूल तू नाक चढ़ा रहा है तुझसे वो खुशबू रखता है सरकार के गधे का पेशाब जो है लिहाजा ये इज्जत उनके जेन में थी कि वो गधे के बॉल की गुस्ताखी भी बर्दाश्त ना कर सके गधे के बॉल की गुस्ताखी भी बर्दाश्त ना कर सके बुखारी ने इसको रवायत किया गधे के बॉल की गुस्ताखी भी बर्दाश्त ना कर सके आज ये बेमुहार मेरे महबूब को गालियां देते हैं और उनकी गुस्ताखियां करते हैं इनकी किताबें वाहियात से भरी पड़ी हैं इज्जतें तकसीम करने वाले खुदा ने तो मेरे महबूब को इज्जतें दी हैं मगर इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तकवीयतुलमा में लिखा है कि जो भी छोटा है या बड़ा मखलूक का हर फर्द अल्लाह की शान के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है अस्ताफिर ये तकवीयतुल ईमान है या जनाजा तुल ईमान है ईमान का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने कहते हैं अल्लाह की शान के आगे जो भी छोटा है या बड़ा है बड़े तो सरकार हुए छोटा जो भी छोटा है या बड़ा है अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है फिर अल्लाह फरमाता लिल्ला इज्जत वाले रसूल ही वलिल मोमिन इज्जत मेरी है मेरे रसूल की है मोमिन की है या अल्लाह फिर क्यों एतराज करके जा रहा है फरमा अल्लाह किन्नल मुनाफिकीन अल्लाह या नमून अफसोस ना करो मुनाफिकों को इस बात का पता चल ही नहीं सकता इस वास्ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया जिसको इमाम बुखारी ने रवायत किया फरमाया कान जराहोगी बिन उमर और शिरार खल किल्ला अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो सिहाबी है वो ऐसे लोगों को सारी मखलूक में से शरीफ समझते थे क्यों फरमा इन नाहू मिन तारकू इला आयातिन ना गलत फिल कुफारे फजारू अल मोमिन इन लोगों का जुर्म यह है कि जो आयात काफिरों के बारे में नाजल हुई थी ये वो आयतें बुतों की आयतें बलियों के बारे में पढ़ते हैं ये देख लो कौन लोग हैं और किन के बारे में ये फतवा है और किन का यह तरीका है सच साबित हुआ फरमान मेरे गैरदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और वहां पहुंच के इंसान का सिर सर जो है चकरा जाता है कि किस अंदाज में सरकार ने यह रिशाद फरमा दिया इबन कसीर में हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला से यह बात रवायत मौजूद है सरकार ने यह इरशाद फरमाया था इन्नी अखाफ वालेकुमुल कुरान लोगों मुझे तुम पर कुरान का भी खतरा है कुरान का मुझे तुम पर खौफ है सारे परेशान हो गए कुरान तो हदायत देने के लिए आया है और आपने इतना इसको संभाल संभाल के रखने की दावत दी है तो आप यह इशाद फरमा रहे कि मुझे तुम पर कुरान का खौफ है फरमा हां एक लिहाज से मुझे खौफ भी है किस तरह मुनाफिकून फजुजा दिलू नबिल मोमिन मोमिन फरमा कुरान मजीद का खतरा मुझे यह है कि मुनाफिक इसको पढ़ लेंगे और पढ़ के मोमिनों से टकराते रहेंगे ये लफ्ज है सरकार के हाथों में कुरान लेकर फिरने वालों को पहचानो यत अल्लाहुल मुनाफिकूना फयुजा दिलू नबिल मोमिन फरमा मेरा कुरान मुनाफिक पढ़ जाएंगे और कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के मोमिनों से टकराएंगे मोमिनों से झगड़ा करेंगे मोमिनों को इल्जाम देंगे मोमिनों पे एतराज करेंगे फरमा इस वास्ते मुझे एक पहलू मेरे सामने यह भी है कि यह तो आम दावत है ये पुराने मजीद हर एक के जेन की गजा नहीं है ये मुनाफिक भी जब पड़ जाएंगे तो फिर फसाद पैदा हो जाएगा क्योंकि लफ्ज वही होंगे या तर्जमा बदलेंगे या फिर मफहूम बदल के मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगा देंगे अल्लाह तबारक बताला कुरान मजीद के मफहूम को सही समझने और इस पर अमल पैरा होने की तफी कता फरमाए मेरी ये गुफ्तगु संभाल के रखें और जो रोजाना सुबह दुरुस्त हो रहे हैं उनको भी जेन में रखें और साथ ये बात भी समाप्त करें कि अपना सद का फितर बीस रुपए फिकस के हिसाब से अदा करें गुरबाओ मसाकिन को दें यहां पर जाम सिद्दीकिया अनवारुल कुरान हमारा दरसा हिफ्ज का तालिबात और तलबा के लिए इसको भी दें और साथ ये भी याद रखें कि एक बहुत बड़ा इल्मी मनसूबा है हमारा जामिया जलालिया रजबिया मजहरुल इस्लाम मोमिनपुरा रोड दरोगा वाला में जहां पर उलमा की टीमें तैयार की जा रही हैं अल्लाह के फजल से छह क्लासें वहां पर जेर तालीम है हिफ्स के अलावा से निजामी की पांच क्लासें हैं तो उस अजीम मनसूबे को भी कामयाब बनाना आपका फर्ज है लिहाजा अदायगी जक़ात के वक्त उसे भी जहन में रखें और एहतिकाफ बैठने के लिए इस मस्जिद में अपनी दरबार